कियऊ निषाद नाथ जगुआए मातु पाल की सकल चलाए साथ बुलाए भाई देना में प्रण सहित गबन गुरु के नाम आप सुर है के न प्रणामो सुमरे लखन सहित सिय राम गवने भरत पया दे पाए कोतल संग जाहि डोरियाए निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया भरत जी पैदल ही चले उनके साथ कोताल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं कहं सुसेवक बाहि बारा हो अश्वारा राम पया देहि सिधाए हम कहरथ गज बाजी बनाए चिर भर जाओ उचित समोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा देखे भरत गति सुनि मृदुबानी सब सेवक गण गरही गलानी उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊँ सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं भरत तीसरे पहर कह न प्रवेश प्रयाग कहत राम शिय राम शिय उमगे उमगे अनुराग प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश कन जैसे भरत पया देही आए आजो भयो दुखित सुने सकल समाज खबर लीन सब लोग नहाए किन्ह प्रणायमो त्रिवेणी आए सबिद सीत सित नीर नहाने दिए दान मही सुरसन माने उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया देखत श्यामल धवल हलो रे पुलक शरीर भरत करजोरे सकल काम कामप्रद तिरथुराव वेद विदित जग प्रगट प्रभाग भीख जगिन जधर मो आरत काहन। करई कुकर्मु अस जिय जाने सुजानो सुदाने सफल करही जग जाचक बाणी श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं अर्थन धर्मन का मरचे गति न चहौ निर्बान जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है न धर्म की न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो बस यही वरदान मांगता हूँ दूसरा कुछ नहीं